काय से प्रवृत्ति से प्रवृत्ति काय से दोष से कदोष काय से मिथ्या ज्ञान से और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाए और तो में श्रेष्ठ का अधिगम हो जाए दुख का अभाव हो जाए अभाव अच्छा पूर्व मीमांसा में भी जो सुख दुख हैं वो कर्म जन्य ही हैं वो कार्मिक ही है सिद्ध उसमें ये कार्मिक आगमा बाई दुख दुख का भाव सुख दुख सुख दुख वहां भी ऐसा ही है असल में जो मिथ्या ज्ञान से है वो तो मिथ्या ही है परमाणुओं में संयोग की कल्पना जो है वो तो अविद्या मनसा कल्पितास्ते ये शाम समूह न कृतो विशेषा ये पृथ्वी रूप जो विशेष हैं वो जिन परमाणुओं के समूह से कल्पित हैं वो संयोगी कैसे हैं में अविद्या मनसा कल्पिता ये श्रीमद भागवत का वचन अविद्या मनसा कल्पिता ये शाम समूहेन कृतो विशेषा योग में सुखाकार वस्तु सत्ताकार वस्तु मतलब निरोध है वो है ना इसलिए अविद्या अस्मिता रागत द्वेष अभिनिवेश ये सब अविद्या का परिवार है और जहाँ समाधि के में इनका निरोध संपन्न हुआ वहाँ आत्मा में न सुख है न दुख है आत्मा तो जन्माल केवल देखो आपको दुख कब होना है चल जब अपने में किसी चीज का अभाव मालूम पड़ता है और हम उसको दूसरे से चाहते हैं किसी सकल सूरत से अपने को सुखी करना चाहते हैं हाँ हाँ हम गीत होते तो कैसा मांस खाने को बनता है सकल दुख उनकी मांग खाना चाहते हैं इसलिए उस इच्छा की पूर्ति के लिए गीत की सकल सूरत मिलती है क्योंकि हम स्वर्ग की अप्सरा का भोग करना चाहते हैं तो देवता की सकल सूरत मिलती है यही शास्त्र का सिद्धांत धर्म शास्त्र का सिद्धांत है हम में सुख नहीं है इस स्त्री में सुख है हम में सुख नहीं है इस पुरुष में सुख है हम में सुख नहीं है इस हीरा मोती रुपया पैसा में सुख है एक अंग्रेज सज्जन आए थे वो प्रेम मंदिर में पहले रहते थे कैद करता बड़ा प्यारा इसमें बड़ी शंका है बहुत प्यारा वृंदावन लेके गए थे कुत्ते को लेके गए थे तो मैं उनके साथ हो गया क्योंकि ऐसे मंदिरों में मंदिरों में उनको जाने नहीं देते कुत्ता भी साथ साथ गया वो तो अपने जूते को कुत्ते को सुखा के रखते वो कुत्ता जूते पर बैठता और जब तक हम लोग भले शाह जी के मंदिर में गए तो हमको सब देखने में आध घंटा कौन घंटा लगा वो कुत्ता वहां से जूते के बाद जूते पर से हटा नहीं बड़ा प्यारा कुत्ता और एक दिन जब लोनावाला की यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में लगा मोटर का धक्का उस समय जो उनकी दशा हुई थी बड़े सज्जन थे बड़े विचारवान थे सत्संग करने के लिए आए हुए थे इतना रोए इतना रोए बाबा देखने वाले दया से द्रवित हो गए और फिर उनका मन यहाँ नहीं लगा तो अपना सुख उन्होंने अपने में से उठा के देते हुए रखा भरत सिंह कहाँ रह सकते थे जमीन में है कि बीज में है कि पेड़ पौधे में है हैं कि तुम्हारी चिड़िया में है कि तुम्हारे पशु में है कि तुम्हारी मोटर में है हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार में है हैं? अपने सुख को तुमने उधार दे दिया किसी कल्पित में सुख की कल्पना करो कल्पित पदार्थ में सुख की कल्पना ऐसा कौन है जिसके बिना तुम नहीं रहता बस ये रोज शाम को सोच लेने लायक है वो कि क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता प्रातः काल उठ के जरा सोच लिया करो बैराग जावेगा प्रातः काल उठ के जरा ध्यान दो कोई दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते कोई कल्पना है पति के बिना पत्नी के बिना बाप के बिना माँ के बिना बेटा बेटी के बिना धन के बिना गुरु के बिना चेले के बिना संपदा के बिना सिर्फ आंख के बिना हो आख के बिना नाक न कटे लोग क्या जिंदा नहीं रहते कटे लोग क्या जिंदा नहीं रहते बस बारे बारे लोग क्या जिंदा नहीं रहते जिनका जिनकी बुद्धि काम नहीं करती हद बदले हैं पागल लोग क्या जिंदा नहीं रहते हैं अरे तो वो तो अपने को और होशियार समझते हैं अपने को ज्यादा होशियार समझना पागलपन का लक्षण है प्रत्येक पागल अपने को सबसे बड़ा बुद्धिमान मानता है ये भी एक पागलपन है कि हम बुद्धि वाले हैं ये भी अज्ञान तो वस्तु में सुख है वस्तु के भोग में सुख है सकल सूरत में सुख है इंद्रियों में सुख है मन में सुख है यदि बुद्धि में भी सुख रखोगे तो जिस दिन कोई चीज समझने में तकलीफ होगी ना उस दिन सुख होगा मन में भी सुख रखोगे तो यदि तुम्हारा जिससे प्यार है वो कोई गड़बड़ करेगा तो तुम्हें बहुत दुख हो इंद्रियों में सुख रखोगे और उसमें सामर्थ्य नहीं रहेगा तो तो विषय होते हैं नासवान और इंद्रियों का सामर्थ्य टूट जाता है और मन में अरुचि हो जाती है और सर्वदा हम भोक्ता होकर रह नहीं सकते अज्ञान का पर्दा तो आवेग सबसे सबसे बड़ी चीज तो वही है कहाँ सुख है संग्रह में सुख रखा है तुमने ढेर का हम जानते हैं ऐसे करोड़पति मिला ऐसे अरबपति मिला जब नुकसान लगता है जब टैक्स के अवसर पकड़ते हैं जब पुलिस का छापा पड़ता है तो उनकी धड़कन कितनी बढ़ती है और कैसे दबा दब आंसू उनकी आंखों से गिरते हैं तो मालूम है हमने अपना कहाँ सुख रखा हुआ है तुमने अपनी संपदा ऐसी के घर में रख दी ये तुम जिंदा रहोगे वो मर जाएगा आंख में रखी कान में रखी मन में रखी तुम जिंदा रहोगे वो मर जाएगा ऐसे घर में अपनी संपदा रखते हैं उस संग्रह में उपस्कार रखते हैं तो होता तुमने अपना सुख कहाँ रखा है विषय भोग में कब तक इंद्रियां विषय भोग करें मालूम है अभिमान में संग्रह हमारे पास इतना है इतना है जो अरबपति थे उनको होटल चलाते मैं देख हमारे सामने अरबपति थे और हमारे सामने ही होटल चला रहे हैं है तो संग्रह के विषय भोग में सुख है ये प्राप्ति है बोला और संग्रह में जो अभिमान होता है हमारे पास इतना है तो भी प्राप्त और जो मनोर मनोराज्य है ना क्या इधम तो मध्य मैं अलग हूँ प्राप्त मनोरम ये मिला और ये मिलेगा इदम अस्तीतम अभी में भविष्य पुनर्धनम आशा पास सतैर बंदा ये जो मनोराज्य का सिद्ध है वो मिलेगा मिथ्या है और जो आदत डाल ली है ना ये बहुत ये आदतता जो है तो रोज दो तो हजार दंड बैठक नहीं करेंगे ये तो संतोष नहीं होगा अब वो महाराज जिस दिन नहीं हो पाता है उस दिन उनके शरीर में दर्द होता है और बुढ़ापे में नहीं करते हैं बच्चे तो एक एक को एक एक गांठ दर्द करती एक एक जोर दुखता है आनंद राज ने ना और हाँ, सूर्य नमस्कार रोज करते हैं थोड़े दिन आदत पड़ जाने दो तो फिर देखना बच जाओ काय से बचते हैं विषय भोग से बनते हैं अभिमान से बनते हैं मनोराज्य से बनते हैं और अभ्यास से अभ्यस्त जो हो जाती है क्रिया जो भोग हमारे एक महात्मा हैं उनको दूध पीने को रोज न मिले तो भी कम नहीं हो एक से एक से दूध उनको पीने को न मिले तो गति नहीं होती बिगाड़ लिया एक बालक है और यहाँ से गया गंगा गुरुद्वार यहाँ से गया और लौट के आया और बीच में बाथरूम कहीं नहीं गया तो वो वो कमोर कुमार अंग्रेजी धन का बाथरूम होता है वो तो कहीं मिला तो आप दुख कैसे पालते हैं इसको देखो दुष्टा खान यल तब हमारी इंद्रियां दुष्ट हो गए सहन नहीं होता जब पहले लगे मीठा फिर हो जाए जहर एक तो एक सुख तो होता है गम गलत करते एक तो सज्जन था तो हमारे पास आए थे बोले बाबा खा लड्डू भांग पी लिया कर थोड़ी सी और लड्डू खा शरीर तगड़ा रहेगा ऐसे ही बताया हो मथुरा कर बोले बाबा हाँ, क्या दुखा तो क्या ये, ये कोई मनुष्य का भोजन है ये तो चिड़ियों का भोजन है <laughs> और थोड़ी खान की और लट्टू खा और खूब तगड़ा रहा देख हम कोई दवा नहीं खाते ऐसे तो।, तो ये जो नशा पी के गम गलत करते हैं ना वो तामस है और जो पहले तो मजा आवे और पीछे दुख हो गए वो राजस है जिसकी आदत पड़ जाए अभ्यासात रमते जंत्र भी आदत छूटने पर पूरी नहीं होने पर तकलीफ असल में सुख तो वो है ना जो कभी छूटे छूट गया तो सुख क्या मर गया तो सुख क्या हो समविद्या दुख संयोग योगम तो क्या सुखम आत्यंतिकं जत्र बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रिय दीप्ति चैवन जत्राय स्थित चलती तत्वतः जम लब्धवा चापरम लाभम अन्य आत्यंतिक माने काल से अपरिचय बुद्धिग्राह्यम माने देश से अपरिचय अतीन्द्रियम माने विषय से अपरिचय जिस सुख में विषय की जरूरत नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं इंतजार की जरूरत नहीं कम माने जो अपना स्वरूप उस जो भाई घूमा तब सुखा अनंत ही सुख ये अपरिच्छिन्न आत्मदेव ही परम सुख है तो पहले आपने अपने को कंगाल किया कि इस चीज के बिना इस आदमी के बिना इस काम के बिना इस रोग के बिना इस स्थिति के बिना समाधि लगे बिना हम सुखी नहीं होंगे वैकुंठ में गए बिना सुखी नहीं होंगे है ना आपने अपने में सुख नहीं माना कंगाल हुए फिर दूसरे में सुख माना पराधीन हो दूसरे में सुख मानना पराधीनता है और अपने में सुख न मानना कंगाली है आप अपने को कंगाल मान के और पराधीन होकर सुखी होना चाहते हैं तो ये सब अज्ञान का विलास जिसके लिए विषय चाहिए कि आकार चाहिए कि जाति चाहिए कि मजहब चाहिए सबसे ऊपर उठना है ऊपर उठना माने प्रथम क्या है सबसे पहले क्या है जब देश का भान नहीं रहता है जब काल का भान नहीं रहता है है जब द्रव्य का भार नहीं रहता है जब देह इंद्रिय का भार नहीं रहता है एक हमारा दोस्त था बहुत जीत था उसने कहा आप कहते हैं सारी दुनिया हम आग से देख रहे हैं जीव से खा रहे हैं दोनों हाथ से आलिंगन कर रहे हैं आप देख रहे हैं मैंने उसको कहा कि बाबा जब हम मिथ्या बोलते हैं तो दुनिया मिथ्या और आंख तेरी सच्ची और जिसको तू बांधता है हाथ में वो मिथ्या और तेरे हाथ सच्चे ऐसा कि जिससे तू प्रेम करता है वो मिथ्या और तेरा मन सच्चा ऐसा तो नहीं बोलते हैं बाबा पहले जो अपने पास बिल्कुल है ना हाँ उनके बारे में तो जिन कारणों से तुम्हें ये सृष्टि मालूम पड़ती है हाँ, वो भी अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में हाँ, हाँ। जड़ता जड़ता के अभाव से उपलक्षित स्व प्रकाश आत्मा में दिखा और ये असत असत्य अत्यक्षता भाव से उपलक्षित सत्य नहीं ये दुख का दुख के अत्यक्षता भाव से उपलक्षित परमानंद में परमानंद में तो देखो कल्पिता रज्जु सर्पवत जो चीज जहाँ जब जहाँ जिस तत्व में नहीं है उस तत्व में उस तत्व में उस स्थान में उस समय में उस वस्तु का भाजना वेदांतियों का मिथ्या जो है ना वो जरा समझने लायक है अच्छा आप दो मील से दस मील से पहाड़ देखते हैं दस मील से तो कितना बड़ा दिखता है और एक मील से देखते हैं तो कितना बड़ा दिखता है पहाड़ का जो परिमाण आपको दूर से दिखता है वो छोटा होता है और निकट जाने पर जो दिखता है वो बड़ा होता है ये पानी के जहाज होते हैं ना इसका भोंको जोड़ता है तो दो जहाज खड़े हों एक को अपने घर से एक मकान पर और दूसरा हो दो भी दोनों एक ही सेकेंड में अपना भोंकू बजावेंगे लेकिन पास वाले का पहले सुनाई पड़ेगा और दूर वाले का थोड़ी देर में सुनाई पड़ेगा हमको वृंदावन में कई बार ऐसा हुआ और रात को शाम सुबह को वहाँ श्रीरंग मंदिर में ये वेंकटेश प्रातः स्मरणम है ना ये बजाते हैं तो वो हमारे रेडियो में भी बजता है और उनके वो वेंकटेश मंदिर वाले भी बजा बजाते हैं तो हमारे रेडियो वाला जल्दी सुनाई पड़ता है और वो देर से आता है दोनों दोनों आवाज एक साथ नहीं बोलते तो जब आपका दर्शन आपका वजन यहाँ दूसरा है और जब राकेट में ऊपर जाते हैं तब आपका वजन दूसरा होगा उम्र में भी फर्क पड़ता है एक ही टाइम में आपका जन्म हो यहाँ हो तो दिन में होगा और अमेरिका में हो तो रात में होगा अरे ये सब बाबा अपने मालूमात का चक्कर है बोला इसमें जो हम एक को पकड़ के बैठते हैं वो अपनी अपेक्षा से पकड़ के बैठते हैं सापेक्ष हो मिथा मिथा ज्ञान है थोड़ी हमारी आग तेज हो तो चीज साफ दिखेगी थोड़ी मंदी हो मैली दिखेगी चीज थोड़ी चमकदार हो तो ज्यादा दिखेगी कम चमक वाली हो तो कम दिखेगी क्या ध्यान हो रहा है ज्ञान क्या हो रहा है तो बोलते हैं हम ज्ञान हो रहा है आपका ध्यान इंद्रियों के रास्ते बाहर जाता है और वहाँ से कुछ लेके लौट जाता है भ्रमण करता है ज्ञान जब भ्रमण करता है ना जैसे आप भ्रमण करने के लिए निकलते हैं वैसे इंद्रिय की उपाधि से ज्ञान भ्रमण करने के लिए निकलता है हाँ, ये वैसे ही है जैसे रेलगाड़ी से चलते हैं ना तो हम चलते हैं पूरब को और आसपास के जो बगीचे हैं गांव हैं धरती हैं मालूम पड़ता है सब पीछे को जा रहे हैं चलते हुए वो मालूम पड़ते हैं बालक बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि कहीं परस्पर मिथ्यावादी लो भाई तो आपको क्या मालूम पड़ती है तो इस जो कल्पित का कल्पित का प्रकाशक है वो अकल्पित है जो ये अध्यस्त अनुष्ठान के सिर पर आप दूसरी दूसरी चीजें डालते जा रहे हैं अधि माने ऊपर अस्त माने निक्षिप्ता अस्थातु का निक्षिप्त अन्यस्मिन अन्य निक्षिप्त बुद्धिया समय अन्यस्मिन अन्य बुद्धि काम भी बुद्धि है है ना पर उल्टी बुद्धि है दूसरी चीज को दूसरा समझना है तो जब वस्तु का अज्ञान होता है जैसे हमने रंजू को नहीं जाना रंजी को नहीं पहचाना तो रंजू का अज्ञान है और उसको जब सांप समझा उसको माला समझा उसको डंडा समझा उसको भूचित्र समझा तब ये अज्ञान के बच्चे हुए हो बच्चे रज्जू का ज्ञान तो हो गया बाप उसको हमने नहीं पहचाना और जब नहीं पहचाना तब उसमें सब बच्चे कच्चे दिखने लगे किसी को दिख गया माला है किसी को दिख गया सांप है किसी को बोलते हैं अज्ञान तक ये अभ्यास हो गया रज्जू पर सांप डाल गया ऐसे ही असली पर ब्रह्म परमात्मा पर उसको न पहचानने के कारण ये लोक है ये लोग है ये करता है वो सोचता है ये संसारी है ये परिचिन्न है ये सब अध्यस्त हो गए मूल वस्तु को मूल वस्तु को न समझने के कारण तो भाई देखो तो आनंद की बात करें आनन्दपरमानन्दः स्वबोधस्वं आनंदो ब्रह्म इति आनंद ब्रह्म रसो वजिता रसम देवाय आनंदे भवती आनंदात देव खल्यमानी भूतानी जायते आनंद ब्रह्म की ये जो ज्ञान स्वरूप तुम हो बाबा ज्ञान का कभी दोष होता ही नहीं जैसे आपको कभी अपनी मृत्यु का अनुभव नहीं हो सकता अनुभव के राज्य में मृत्यु नाम की चीज नहीं है वो आप कभी मरे हैं आपको अपने मरने का अनुभव है यदि मरने का अनुभव है तो आप मरे नहीं आपको कभी मैं अज्ञान स्वरूप हूं ऐसा अनुभव है तो हम जिसको छूते हैं उसका नाम आनंद है जिसको देखते हैं हम अपनी आंख में से आनंद निकाल के दूसरे बिता हाँ, एक ऐसा सौंदर्य है जिसके सिवाय और कोई सौंदर्य नहीं और जिस सौंदर्य का धरा भरा अंत सुंदर मालूम करता है वो सौंदर्य को एक माधुर्य है जिसमें न दूसरा कड़वा है और न दूसरा मधुर है वो परम माधुर्य तुम तो एक सौंदर्य ऐसी सुगंध जिसमें दुर्गंध की तो गंध नहीं दुर्गंध नहीं और जिससे हाँ, जिसके सिवाय दूसरी कोई सुगंध नहीं वो सौरभ वो सौरभ हाँ, एक प्रतिमा है प्रतिमा जिसको इतनी सुकुमार की जिसको कोई छू नहीं सकता जिसको छूने वाला कोई है नहीं और जिसके अतिरिक्त दूसरी कोई सुकुमार का नहीं वो प्रतिमा वो सौंदर्य आप वो संजीव वो पदम शब्द जिसमें कटु शब्द नहीं है और निरर्थक शब्द नहीं है जिसके सिवाय दूसरा कोई शब्द नहीं है आपका ही नाम है सौस्वर्य आप निरुत्तर सौस्वर्य हैं निरुत्तर सौकुमार्य हैं निरुत्तर सौंदर्य है निरुत्तर माधुर्य है निरुत्तर सौरभ्य है जो ये आनंद दिखाई पड़ते हैं दुनिया में आभास मात्रा क्योंकि अन्य आभास है तो अन्य में आनंद भी अब आभास है तो उपनिषद में मीमांसा है ना आनंद की इन सब आनंदों से परे सतगुणित सतगुणित सतगुणित निरंतर निरतिशय निर्विशेष परमानंद स्वरूप कहाँ राग है कहाँ देश है कहाँ संस्कार है कहाँ आने की कहाँ जाने की इच्छा है कहाँ से लौटने की इच्छा है आप कहीं दूसरे में हो तो लौट के हमें कोई दूसरा हो तो उसमें जाएं कुछ न बने हो तो बन जाए आपका सब उदस्वा सुखाई करो बनो Krishna ज्ञान का स्वभाव तो ये है कि वो चीज जैसी हो उसको वैसा अनुभव करा दे तो अज्ञान मिलने से अगर ये संसार मिल जाता है तो ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाला संसार सच्चा संसार या ज्ञान से ऐसे मिटेगा ज्ञान से कितने मिटेगा कोई भी सच्ची चीज ज्ञान से नहीं मिलती ना ज्ञान से नहीं मिलती ज्ञान से तो जानी जाती है कैसी है बोले कि बस बस इतनी सी तो बात ये जो प्रपंच है ये सच्चा है चाहे उसकी चर्चा नहीं है अज्ञान से चर्चा मालूम पड़ता है जब ज्ञान से अज्ञान में जाता है तब ये सच्चा कहां से है सच तो सच है यदि ये प्रपंच सच्चा नहीं है तो क्या है बोले सच्चा है अनुष्ठान सच है अनुष्ठान और ये प्रपंच है अत्यंत कल्पित इसी से जब अनुष्ठान का ज्ञान होता है तो ये जो प्रपंच है ये है वो है भी एक प्रपंच है शोक भी एक प्रपंच है इसको आप एक तो संसार को देख के संसार को लिप्त अरे दूसरे दोनों जी हमने भी एक दो ऐसे हैं जो संसार को स्पष्ट नहीं लेकिन वो संसार के बारे में विचार करके ही संसार को सच नहीं और उसमें बहुत फर्क कुछ लोग ऐसे हैं जो वृत्ति का विरोध कर देते हैं और संसार का भाग नहीं होता है तो अब हार दशा में संसार नहीं है और बहुत भाभी जो है वो तो संसार का ही विचार करते हैं वो तो प्रपंच की दृष्टि से ही प्रपंच को मिथ्या सिद्ध करने का प्रयास तो, तो सृष्टि विद्या है ये बात तो बहुत ही और सृष्टि को तो दूसरे और डालते जो लोग केवल चार भूत को ही तत्व मानते हैं उनकी दृष्टि में भी ये हजारों रूप में दीप पड़ने वाली सृष्टि तत्व नहीं है असत्व ही है तत्व तो उनके चार ही है और तो सब असत्व है जो लोग निरवय परमाणुओं के संयोग से सृष्टि मानते हैं वे भी मुंह से बोले न जो प्राग भाव और प्रसन्नता भाव से अनिया भाव से ग्रस्त जो शक्ति है उसका अत्यंता भाव है अच्छा जो लोग केवल पंचभूत पर्जन से भी तर्क मानते हैं आपको अलग शांति है वो कहते हैं अंतिम कार्य पंचभूत है तो ये हजारों के स्त्री क्या है पुरुष क्या है ये कार्य नहीं है ये पंचभूत कार्य में संदृप्त है कल्पित है हम बहुत मोटी जो लोग इसको कार्मिक मान रहे हैं पृथ्वी है जल है अग्नि है वायु है आकाश है ठीक है देश है काल है ठीक है परंतु ये आकृतियां जितनी हैं नाम रूप जितने हैं हम लोगों को स्त्री पुरुष शत्रु ये कर्मानुसार आकार बनते हैं और कर्मानुसार समाप्त होते हैं तो उनके मन में भी तो ये आकार सब उत्पाद बिना शील ही तो अच्छा आत्मोल्लास है उल्लास ही तो है सत्यत्व उल्लास भी होता है नित्यात्व उल्लास तो असल में जिस संसार को हम लोग ये हमारे साले ये जो हम लोगों ने संबंध बना रखा है उसको तो वैष्णवाद आप भी सत्य नहीं मानते हो मना महाराज ने वो विभाग कर दिया एक संसार और एक जगत तो वो कहते हैं कि शास्त्रों में जहां जहां मिथ्या लिखा है संसार को मिथ्या लिखा है संसार माने जीव सृष्टि वेदांतियों की भाषा में संसार माने जीव सृष्टि जो हमने बनाया ये मेरा धन है ये मेरा मकान है ये मेरी जमीन है ये मेरा रुपया है ये मेरा पैसा है कुछ नहीं है तुम्हारे बाप ने भी उसको ना माना था मेरा माना था दादा ने भी मेरा माना था बेटा भी मेरा माने मानेगा तुम्हारा दुश्मन भी उसको जब इसके हाथ में जाएगी तो भी मेरा मानेगा किसी का मेरा तो संसार क्या है और पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि रूप जो ईश्वर सृष्टि है वो सत्य है तो जिस संबंध में हम लोग फंसे हुए हैं देखो उनकी दृष्टि से विचार उनकी दृष्टि से भी विचार है श्री रामानुजाचार्य महाराज जीव और जगत को तो ईश्वर का विशेषण मानते हैं परंतु ये जो संबंध है ये ईश्वर के विशेषण नहीं है चित और अचित ही विशेषण होता है संबंध विशेषण नहीं हुआ करते ऐसा नामा हो जाता है मोदी नजर से आओ इसको देखते हैं वेदांती लोग कहते हैं वेदांतियों ने उनकी जिस क्षण की बात मानी एक होती है ईश्वर वृत्ति पंचवृत्ति वर्ण और एक होती है वो भी उपनिषदों के आधार पर सप्तान सृष्टि का जो वर्णन है इसी के आधार पर तो अब आप देखें तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि कितनी है और ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि कितनी है सृष्टि को वेदांति लोग दुखदायी है दुख जितना होता है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये किसी को दुख नहीं देते दुख तो देता है मैं और मरना देह को मैं समझ लिया परिचित हो और देह के संबंधियों को प्राप्त समझ लिया पढ़ते समय तो कभी कभी कटोरी कभी तो मुर्दे कितने आदमी कितने जाते घाट पर बैठते कितने जल्दी कोई तकलीफ नहीं लेकिन जब देखते कि हमारे रिश्तेदार किसी मुद्दा के साथ तो कौन है हमारा बनाना है तो तुरंत खाना पीना छोड़ के जब करते हैं